सप्तम मंत्र हो गया था पूरा अष्टम मंत्र अष्टम मंत्र शुरू हुआ ना तसे तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेद सर्वांगानि ब्राह्मी ब्राह्मीवाव उपनिषद अब्रुम परमात्मा संबंधी उपनिषद कहा गया था कही गई तस्य तपो दम कर्म इति प्रतिष्ठा जो उपनिषद परमात्मा संबंधी विद्या कही गई तस्यई यहाँ तस्या अर्थ में तस्य चतुर्थी अंत है षष्ठी अर्थ में उसका ये सब तप दम कर्म इति इसी प्रकार अमानित्व आदि प्रतिष्ठा है ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि चार वेद छह अंग कर्म दम तप अमानित्व आदि सब प्रतिष्ठा है ये होने पर ही ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठति प्रतिष्ठित होती है ब्रह्म विद्या जो चाहता है ये आवश्यक है इतने होने पर भी ब्रह्म विद्या ये ब्रह्म विद्या प्राप्ति का उपाय है ब्रह्म विद्या होने के बाद कोई सहकारी जरूरत नहीं किंतु ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए प्रकाश होने के बाद अंधकार निवृत्ति के लिए कोई आवश्यकता नहीं किंतु प्रकाश की उत्पत्ति के लिए तो साधन चाहिए दीप के लिए साधन चाहिए इसी प्रकार ब्रह्म विद्या का ये उपाय है तपः वाचिक मानस कायिक तप है दम इंद्रिय दम दमन है कर्म इति इति कह करके इसी प्रकार अमानित मदम्बित अहिंसाक्षांतिरार्जवम गीता में कहा गया सब और आचार्य वेद सर्वांगानि वेदांग चे ये सब प्रतिष्ठा है सत्यम आयतनम सत्य हो गया आयतन आश्रय यहाँ एक तो अर्थ क्या यहाँ तक प्रतिष्ठा वेद सर्वांगानी सम्मिल करके प्रतिष्ठा है अभी भाष्य में कहेंगे अथवा तपो दम कर्म इति प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा है पाद जिसकी में प्रतिष्ठित होती ब्रह्म विद्या तो तपो दम कर्म इति अमानित आदि सब प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा पाद रूप है ब्रह्म विद्या का पाद रूप यदि तपो दम कर्म अमानित आदि हो गए तो ब्रह्म विद्या का अन्य अंग कौन है वेद सर्वांगाणी वेद बाकी अंग है पहले सर्वांगाणी में अंग शब्द का अर्थ वेदांग और द्वितीय व्याख्या के अनुसार ब्रह्म विद्या का सर्वांगाणी ब्रह्म विद्या के सारे अंग वेद है तपो दम कर्म ये तो पाद हो गए पाद यदि हो गए तो अन्य अंग होना चाहिए तो अन्य अंग है वेदा वेद सब अंग है बाकी अंग सब वेद है सब वेद कहेंगे तो वेदांग का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि सर्वांगानि कह दिया तो सर्वांगानि का अर्थ क्या हुआ ब्रह्म विद्या का अंग ब्रह्म विद्या का सब अंग हो गया यदि अवयव हो गया तो वेद हो गया सब अंग तो वेद कहेंगे तो वेदांग का भी ग्रहण हो जाएगा क्योंकि वेद अंगी अंगी यदि ग्रहण हुआ तो अंगों का भी ग्रहण हो जाएगा देवदत्त का यदि ग्रहण हुआ तो देवता अंग का भी हो गया अवयव देवदत्त आया तो अवयव के साथ तो वेद कहेंगे तो वेदांग का ही विग्रहण हो गया वेद और वेदांग चार वेद से वेदांग सब मिल करके ब्रह्म विद्या का अन्य सब अवयव है सर्वांगाणी यहाँ सर्वांगाणी अंगों का क्या अर्थ हुआ हस्त हस्त आदि अवयव शिर आदि सहस्त आदि अवयव इसमें अंगो सर्वांग वेदांग अंग है वेद कांग है तो वेद सर्वांग सब मिल करके उसका अवयव है सत्यम आयतन तपोदम कर्म इति प्रतिष्ठा में तपोदम कर्म इति कह करके उसमें सत्य भी आ जाएगा फिर अलग सत्य कहते हैं आयतनम विशेष साधना सत्य है तस्य में तत् तत्शब्द में कस्य अपेक्षितम यत् शब्दम पूरयति शब्द के लिए अपेक्षित होता है यत् शब्द जो वह स्व वह कहेंगे तो कह यत् शब्द तत् कहेंगे तो तस्या कस्या यस्य यस याम यस शब्द का अर्थ कहते याम इमाम ब्राह्मी उपनिषदम तवाग्र अभूम इति तसी जो ब्राह्मी उपनिषद ब्रह्म परमात्मा संबंधी विद्या तुमको कही गई तब अग्र अब्रुम इति इति शब्द इसमें टिप्पणी में दे दिया है अब्रु असंपातायतो इति शब्द इति शब्द ऐसे जरूरत नहीं संपात आयत संपाता आयत पहले तालपत्र में लिखते थे अथवा किसी कागज में लिखते थे लिखने का कोई अधिक यदि आ गया इति शब्द आ गया इति शब्द जरूरत न अधिक आ गया फिर क्या करेंगे उसमें थोड़ा स्याही डाल दिया स्याही डाल देने से जब मिल गया सब अक्षर दिखेगा नहीं किंतु कभी काल से स्याही ऊपर से हट गया कोई से देखा ये तालपत्र में लिखा गया कोई ऊपर उसे कुछ स्याही डाल दिया बोले यहाँ कोई अक्षर छिप गया इसमें स्याही गिर करके अक्षर छिप गया तो साफ कर देखें तो अक्षर दिखेगा तालपत्र में से लिख दें अधिक लिख दिया अधिक काटेंगे तो तालपत्र कट जाएगा इसे थोड़ा स्याही उसमें डाल दिया बाद में कोई पढ़ते समय दिखा रही यहाँ कोई अक्षर था कट गया स्याही गिर गया उसको साफ करके देखेंगे अक्षर दिख जाएगा फिर आगे उसको लिखते समय पुस्तक देख करके आगे पुस्तक लिखते थे पहले ऐसे होता था कोई लोग लिखते रहते उसको पुस्तक देखे उसको देखकर लिखेंगे कोई तो अपने मन से रचना करने वाले व्याख्या करने वाले सो लिखते हैं उसको नकल करने के लिए कोई कोई होता है उसको देख करके लिखते रहेंगे दिन भर बैठ करके एक एक अक्षर लिखने के समय लगता है एक अक्षर सुंदर अक्षर लिखते हैं तालपत्र में के देखा होगा तो बड़े सुंदर अक्षर बड़े एक एक अक्षर करके बनाते हैं लिखे दे तो इति शब्द भी आ गया आगे अतः इति शब्द जरूरत नहीं है अथवा इति शब्द का अर्थ टीका में दे दिया है ये उक्त प्रकारण इत्यर्थ हुआ इति इति माहेश्वर जैसे कहा तवाग्र अभ्रुम इति तुमाग्र कहा था ऐसा जो पहले कहा गया था तवाग्र अभ्रुम इति इस प्रकार तस्यै तस्य का तो तस्या कस्या उताया उपनिषद जो उपनिषद कही गई उसी ब्रह्म विद्या का ये ये उपाय प्राप्ति उपाय प्राप्ति उपाय होता है ना तपादन तो उसकी प्राप्ति का उपाय साधन साधन चाहिए प्राप्त करने के लिए उपाय है विद्या होने पर कोई और जरूरत नहीं सहकारी किंतु विद्या प्राप्ति के लिए उपाय साधन और साधन के बिना विद्या की प्राप्ति हो नहीं सकती है कुछ भी कार्य करने के लिए साधन की आवश्यक है स्वल्प जो छोटा स्वल्प कुछ कार्य करेंगे तो साधन चाहिए जितना अच्छा भोजन बनाने वाला पाक पाचक आ जाए अटा नहीं दो बोले रोटी बना दो यह कुछ सामग्री जितने पूरा नहीं दे करके बनाओ कैसे बनेगा सामग्री चाहिए इसीलिए ये ब्रह्म विद्या प्राप्ति का उपाय साधन है अच्छा आगे भाष्य में प्राप्ति उपाय भूतानि साधन है तप काय इंद्र साम समाधान शरीर इंद्र मन तीनों का समाधान तप है इन मन को एकाग्र करना श्रेष्ठ इंद्रियाणाम च ह्यकाग्रम परमं तप इंद्रिय मन की एकाग्रता है बड़ा तप है मन को एकाग्र करना इंद्रिय को भी दमन करना बाहर से एकाग्र करके रखना और काय है शारीरिक तप है क्या तप है सात्विक तप शारीरिक शारीरिक तप कहा गया देवद्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च तप है शारीरिक तप है कायिक देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन देवताओं का पूजन द्विज गुरु प्राज्ञ विद्वान देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम शुद्धि विवेक साधन है आर्जवन सरलता ब्रह्मचर्यम अहिंसा अहिंसा है किसी को शरीर से मन से भी वाणी से कष्ट नहीं देना इस विभिन्न प्रकार से तप है आवश्यक है साधना इंद्रिय मन का भी तप है दम उपशम दम यहाँ क्योंकि इंद्र में आ गया दम का उपशम सब निवृत्ति सब प्रवृत्ति से निवृत्ति उपशम हो जाना कर्म का त्याग कर्म अग्निहोत्र आदि ये भी साधन कर्म जब योग में आरूढ़ हो गया आगे कर्म जरूरत नहीं किंतु पहले कर्म करना पड़ता है नित्य कर्म आवश्यक और जिस ब्रह्मचारी है गृहस्थ आश्रम है आश्रम कर्म अवश्य करना है आश्रम जब वैराग्य हो जाए तो सन्यास लिया तो कर्म नहीं करेगा किंतु पहले आवश्यक है कर्म यज्ञ न दान न तपसा विविध संत्याया श्रुति में आया यज्ञ दान तपस और ज्ञान का साधन है तमे तम वेदान वचन न ब्राह्मणा विविध संति यज्ञ न दान न तपसा अनासकन यज्ञ दान तप ये सब साधन ज्ञान प्राप्ति का अग्निहोत्र आदि यज्ञ आदि कर्म सु एतेरि संस्कृत से सप्त सिद्धि द्वारा तत्व ज्ञान उत्पत्ति दृष्टा एते ही साधने इन साधन से संस्कृत से शुद्ध जो होता है ये अंतकोण शुद्ध होता है ये सब साधन से संस्कृत शुद्ध होने पर सत्व शुद्धि द्वारा अंतकोण शुद्धि के द्वारा तत्व ज्ञान से उत्पत्ति ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति दिखी गई शास्त्र में इसे साधना करने के बाद अंतकोण शुद्धि नहीं तो इंद्र को ज्ञान नहीं हुआ 32 32 32 फिर 32 वर्ष फिर 32 वर्ष अंतगुण शुद्धि होने पर तत्व ज्ञान हुआ ऐसा उत्पत्ति दिखी गई दृष्टा क्या क्या और फिर आगे दृष्टा ही अमृतित कर्मसस्य उक्तेपि ब्रह्मणे अप्रतिपतेर विपरीत प्रतिपतिश्च यथेन्द्र विरोचन प्रभुतेना तत्व ज्ञान उत्पत्ति दृष्टा विराम फिर आगे दृष्टा ही और दृष्टा और एक बार चाहिए हे बना हुआ है नए पुस्तक में नहीं अच्छा एतेरी संस्कृत से सत्वशुद्धि द्वारा तत्वज्ञान उत्पत्ति दृष्टा दृष्टा ह्यमृदित कलमस्य के उक्ते विब्रमणि दृष्टा ही अमृदित कलमस्य अमृदिता कल्मसायस्य जिसका पाप निवृत्त नहीं हुआ इंद्र का विरोचन का का पाप निवृत्त नहीं होने से उक्ते विब्रमणि ब्रह्म का उपदेश किया गया तो भी अप्रतिपत्तिरी विपरीत प्रतिपतिश्च अप्रतिपति ज्ञान होता नहीं विपरीत प्रति विरुद्ध ज्ञान हो जाता है अप्रतिपति ज्ञान नहीं होना तत्व में से कहा क्या ज्ञान कुछ नहीं होता मैं ब्रह्म क्या कहते हैं अब विपरीत प्रतिपति देह को मैं मान के समझा मैं ब्रह्म हूँ तुम लोग कुछ नहीं हो मैं ब्रह्म हूँ ये विपरीत ज्ञान कोई देह को कोई मन को कोई प्राण को कोई बुद्धि को कहते जो बुद्धि से निर्णय करते ही तो आत्मा है और क्या आत्मा है क्योंकि दिखता नहीं तो बुद्धि को आत्मा मान करके कोई कहते मैं ब्रह्म मतलब बुद्धि ही ब्रह्म है कि प्राण को कहते प्राण चले गया तो मर गया प्राण है तो जीवन है तो प्राण ही ब्रह्म है प्राण तो वायु है प्राण को जानने वाला आप है आप प्राण नहीं है आप बुद्धि भी नहीं आप प्राण भी नहीं प्राण को जानने वाला आप है प्राण जड़ है बुद्धि भी जड़ है जो ज्ञेय पदार्थ उससे भिन्न आप मन बुद्धि प्राण सब को जानने वाले आप चेतन दृग रूप वो जाना नहीं जाता है वो ज्ञेय नहीं होता है वो तो दृग रूप सबका प्रकाशक है तो ये विपरीत प्रतिपत्ति कभी बुद्धि को प्राण को देह को आत्मा मानकर विपरीत प्रतिपत्ति हो जाती है अं, अंतकण शुद्ध नहीं होने से यथार्थ ज्ञान नहीं होकर विपरीत ज्ञान हो जाता है यथे इंद्र विरोचन प्रवृत्तिना इंद्र देवराज इंद्र विरोचन असुरराज दोनों गए प्रजापति के पास 32 वर्ष बाद उपदेश किया गया अविरोचन को समझिए देह ही आत्मा जागर के हाथ देखो जल में अपन देखो प्रतिबिंब देखा विरोचन देखा अपन शरीर ही दिखता है शरीर ही ब्रह्म है जागर गुरु बन गया खाओ पियो मौज करो इस शरीर को पोषण करो ये ब्रह्म है इंद्र को भी भ्रम हो गया था वो क्या समझ लिया प्रतिबिंब दिखता है जल में प्रतिबिंब ही ब्रह्म है फिर रास्ता में 32 वर्ष के बाद उपदेश सुनकर गया रास्ता में सोचता है प्रतिबिंब क्या है हाँ देह में जैसे प्रतिबिंब ऐसा दिखता है दाढ़ी मुझे काट कर देखा तो दाढ़ी मुझे कट गया दाढ़ी मुझे हो गया तो प्रतिबिंब दाढ़ी मुझे गया हाथ पैर कट जाएगा तो प्रतिमा हाथ पैर नहीं है हाथ पैर में कुछ क्षत हो गया तो प्रतिमा क्षत हो जाएगा अलंकार लगा तो प्रतिमा में अलंकार दिखेगा ये तो देह के अनुसार प्रतिमा दिखे तो अनित्य इसमें से क्या सुख होगा फिर वापस आया तो वो वापस आया कम से कम विचार करने से और जो बहुत अशुद्ध अंतगण सीधा चले गया गुरु बन गया दोबारा आना ही नहीं इंद्र तो 32 वर्ष के कह रहा है फिर आया फिर बत्तीस वर्ष के तो फिर भ्रांति फिर भ्रांति फिर ज्ञान हुआ तो अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है इसे दिखी गई है ज्ञान उत्पत्ति अप्रतिपति विपरीत प्रतिपति इसे देखी गई है इंद्र विरोचन आदि की जैसे तस्मादिह वा अतीतेषु वा बहुस जन्मांतरेषु तपादिभिः शुद्धेर ज्ञानं समुत्पद्यते यथासुतम् इसलिए ये सब साधन से ही उपाय से ज्ञान होगा किंतु कहते इतने जो ज्ञान है साधन बता गया तपोदम आदि है अग्निहोत्र आदि आजकल तो कोई नहीं करते अग्निहोत्र आदि क्या पता नहीं कुछ तो ज्ञान नहीं होगा इसलिए कहते नहीं इसी जन्म में सब नहीं किसका यदि पूर्वजन में बहुत हो गया तो शीघ्र ज्ञान हो जाता है वैराग्य दृढ़ हो जाता है तो जिसका नहीं हुआ नहीं होता है करना पड़ता है अग्निहोत्र आदि ये सब सब काम से जो कर सकता है जो जो हो सकता है दम कर्म ये सब आवश्यक है मन इंद्र की एकाग्रता तप तप विभिन्न प्रकार तप है ये सब कुछ साधन होने पर ही अंतगुण शुद्ध होता है तो अतीतेषु वा बहुत जन्मांतरेषु ये वा इसी जन्म में हो अथवा अतीतेषु बहुस जन्मांतरेषु अन्य जन्म में बहुत जन्म इसके पहले बहु जन्म हो गए बहु जन्म में बहुत साधन भजन किया होगा तभी तो वेदांत श्रवण करने के लिए रुचि होती है प्राप्त होता है जितने लोग है चाहते हैं साधु बन गए कितने लोग वेदांत श्रवण कर पाते हैं कितने लोग की श्रवण करने की इच्छा होती है बहुत कुंभ में भंडारे में देखो कितने संत इकट्ठे हो जाते हैं और सब संत नहीं आते बहुत संत सब अपने अपने स्थान में बैठे रहते हैं जितने आते हैं उनको देखो तो कितने हो जाते हैं इतने संत सब संत सब दिखते हैं साधु तो बहुत बन जाते हैं वेदांत श्रवण करने वाले उसमें कितने श्रवण करने जो आरंभ करते लगातार करने वाले कितने बहुत कठिन है इसलिए अनेक जन्म पुण्य से ही ये विचारम चिकित्सति अनेक जन्म भजनात् अनेक जन्म भजन करने से ही अपने विचार करना चाहता है जिज्ञासा होती है साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य होने पर ही ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासा होती है व्यास जी ने कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथ तो अनंतर साधन चतुष्ट विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति हो तभी जिज्ञासा उसको जिज्ञासा नहीं कहते थोड़े मन में हाँ, चल थोड़ा बढ़ जाते देख लेते क्या चल रहा है दो दिन का चला गया ये जिज्ञासा नहीं है भुभुक्षा है भोजन करने की इच्छा जाकर थोड़ी देर बैठ गया चला गया ये भुभुक्षा है भूख लेते भोजन आएगा खा करके जाना है कहाँ जाना है जहाँ भोजन मिलता उसको छोड़ देते तो आगे कहाँ जाएंगे इसे बैठो देर हो तो कोई बात नहीं खा करते तो जाएंगे भविष्य है तो क्या भूख लगते तो खा करके जाना है अब पंद्रह मिनट आधा घंटे दो घंटा बैठा भोजन नहीं मिला चलो और फिर आगे कहाँ मिलेगा आगे तो जंगल है जहाँ भोजन मिलता उसको छोड़ कर चले जाना भोजन नहीं मिला सुधा मरु में चलना खा करके जाना इसी प्रकार जिज्ञासा है ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा ज्ञान नहीं हो तो पंद्रह दिन एक दो महीना एक दो साल फिर क्या करना चलो ट्रेन में बिना टिकट घूमो <laughs> कभी पंजाब कभी हरियाणा कभी रामेश्वर जहाँ जाओ कहते अपने अपने ही साधन है गाड़ी में ट्रेन ये जब सुनना घूमना शुरू हो गया बस उसमें सब कुछ है उधर कभी कभी इधर कभी उधर उनके पास कुछ महात्मा उनके पास वो लिस्ट है कभी कहाँ का भंडारा कभी कहाँ का समष्टि उनकी लिस्ट उनके पास है ठीक उसी समय आ जाएंगे पहुँच जाएंगे दूसरे दिन भागो फिर कहाँ जाना वही वहीं भी संत मिल जाते उनके सब परिचित होते हैं जो सब स्थान में जाने वाले हैं ना वो संत आपस में जानते हैं फिर पूछे अभी कहाँ जाना कि अभी तो वहाँ जाना है ऐसे <laughs> बहुत घूमते हैं क्योंकि वेदांत श्रवण करने के लिए नहीं बहुत इसलिए ये बहु जन्म पुण्य से ही प्राप्त होता है जो करते हैं वेदांत श्रवण ये परमात्मा की विशेष कृपा से मनुष्य जन्म की प्राप्ति और पूर्वजों ने क्या पुण्य किए थे जिसके कारण वेदांत श्रवण प्राप्त होता है सोच करके उसका लाभ लेना चाहिए उसको साधारण समझ करके छोड़ देने पर ऐसे रत्न कहते कर लेडी ना करम लेडी हाथ को चाटता है लड्डू को फेंक दिया फिर बाद में हाथ चाटता है अरे तो मीठा है इसी प्रकार है आरूढ़ पति तो कहते वेदांत श्रवण करने के बाद आरूढ़ हुआ पर फिर भी नीचे गिर गया फिर क्या अनुष्ठान करेंगे वो करेंगे प्राणायाम करेंगे द्राविड़ प्राणायाम करेंगे ये सब बीच नीचे आ जाना इसको कहते आरूढ़ प्रतीत उत्कृष्ट साधन प्राप्त करने पर साध्य प्राप्ति ज्ञान होने तक लगना चाहिए लगातार यह जन्म नहीं इसी जन्म में हो अतीतेषु अबहुष जन्मांतरेषु बहु जन्म करने पर तप आदि भी कृत सत्व शुद्धि रे तप आदि के द्वारा कृता सत्व शुद्धि ये न अंतगुण शुद्धि जिसकी हो गई इसी जन्म में अन्य अनेक जन्म में अनेक जन्म बहुत किया है तब यहां वेदांत श्रवण प्राप्त होता है इसलिए इस जन्म में लगातार लगे और तप आदि साधन भी करते रहे पूरा पूरा तब ज्ञानम समुत्पद्यते यथासुतम ज्ञान नहीं होता है बात नहीं कुछ कुछ लोग मान लेते हैं नहीं आजकल कहाँ ज्ञान होता है अर्थात क्या करना ज्ञान के लिए प्रयत्न कर नहीं करो क्योंकि जिन्होंने ज्ञान के लिए प्रयत्न किया ही नहीं उनको क्या लगता है क्या ज्ञान होगा चलो इधर उधर चलो रुपया इकट्ठे करो लोगों को क्या कहते चेताओ लोगों को चेताओ <laughs> बस मुख्य उद्देश्य धनय कटी करे कमरा बनाओ आश्रम बनाओ समुत्पद्यते यथाश्रुतम जैसे श्रुति में कहा गया ऐसे ज्ञान सम्यक उत्पद्यते समुत्पद्यते ज्ञान होता है ज्ञान कभी निर्बीज नहीं होता है यानी कि ज्ञान नहीं होता ऐसे बात नहीं यस्य देव पराभक्ति यथा देव तथा गुरु तस्य ते कथिता है अर्थ प्रकाशन्ते न ये मंत्र वर्णात श्वेता शत्रुपनिषद उपनिषद में देव में पराभक्ति परमात्मा परा सामान्य भक्ति नहीं पराभक्ति बिल्कुल पराभक्ति मद भक्ति में लभते पराम सम सर्वेषु भूतेषु और यथा देवे तथा गुरु देव में जैसे भक्ति है ऐसे गुरु में बराबर ऐसे एकदम भक्ति दृढ़ हो जाए तस्य एते अर्था महा तस्य महात्मने एते अर्था प्रकाशन्ते श्रुति में जो कहा गया उसी महात्मा का प्रकाश हो जाते प्रकट हो जाते शास्त्र में जो कहा गया ऐसा अनुभव होता है साक्षात करता है इसलिए जो परंपरा चलती है खाली पुस्तक के कारण परंपरा नहीं पठन पाठन के कारण नहीं ये अपने परंपरा अनुभव अवसान है साधन करते करते करते श्रवण मन निध्यासन अनुभव दृष्ट फल है वेदांत श्रवण करने पर साक्षात्कार अनुभव दृष्ट प्रत्यक्ष अनुभव होगा प्रत्यक्ष फल इसलिए परंपरा चलती है तो ज्यादा लोग इसके पीछे नहीं चलने पर भी ये परंपरा सब सर्वोत्कृष्ट परंपरा है ये अद्वैत ज्ञान वैदिक ज्ञान जो वेद परंपरा वैदिक हाँ उसका अर्थ अन्य प्रकार बहुत लोग करते हैं अलग-अलग साधक के लिए अलग-अलग अवस्था में चाहिए कर्मकांड करने के लिए मीमांसा है और कुछ ये साधन भजन करने के लिए सांख्य योग भी है ये सब आवश्यक है इसी प्रकार उपासना भक्ति करने के लिए द्वैत मत भी है सब ठीक है किंतु पारमार्थिक वैदिक जो मत है अद्वैत दर्शन ये राजमार्ग श्रेष्ठ है ये अंत में ऐसी प्रकार ज्ञान होता है जब अंतकोण शुद्ध हो इतने भक्ति हो दृढ़ और साधने में लगता है तो ज्ञान होता है शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे ज्ञान होता ही है तब ये परंपरा चलती है और साधना भजन करें ज्ञान नहीं होगा तो कहाँ उपदेश करेंगे तो डर लगेगा डर लगेगा कैसे ब्रह्म जीव ब्रह्म एकता कहेंगे जो अच्छा साधक जो असुर प्रकृति वाले वो तो कह सकते ईश्वर हम बलवान आढ़्यो बलवान सुखी कौन कोस्ते अन्य अदृश सदृशमय ये तो असुर प्रकृति वाले किंतु जो अच्छे साधक है बहुत विवेक वैराग्य युक्त होकर के शास्त्र चिंतन करके लगातार तपस्या कर रहे हैं बहुत दिन तक अब कुछ भी प्राप्त नहीं होगा तो प्रसन्न रह सकते हैं कितने उनको कष्ट होगा रोते रहेंगे से तो उपदेश के आदि शुरू करेंगे कोई से साधन भजन क्या सब छोड़ कर आगे कर लगा लगातार बहुत अध्ययन साधना भजन तप बहुत करने के बाद भी कुछ नहीं मिले साक्षात का नहीं हो नहीं हो तो क्या होगा रो रो करके उपदेश क्या कर सकता है अंतिम समय में धनराज जी ने उपदेश किया था उठ करके बैठ करके मांडव्य का वेदांत का उपदेश किया अजातवाद का उपदेश किया तो ये साक्षात्कार अनुभव अवसान होता है तभी परंपरा चलती है जो अनुभव कर सकते करते हैं वही ठीक उपदेश कर सकते उनकी वाणी में शक्ति होती है और अनुभव नहीं हो तो खाली शब्द कहने से कुछ नहीं होता है इसलिए ज्ञान नहीं होता ही बात नहीं बहुत लोग सत्य ज्ञान होता ही नहीं कुछ लोग ऐसे किसी कारण किसी पुण्य पूर्व तप पुण्य के कारण बड़े पद को प्राप्त हो गए वो कहेंगे ज्ञान होता ही नहीं कोई कथाकार हो गया लोग बहुत भक्त बन गए वो गृहस्थ भी अपने को संत कहलाते हैं वो उपदेश करेंगे क्या उपदेश करेंगे वो तो ज्ञान के लिए कभी साधना ही नहीं किया वेदांत कहीं सुन सुन कर बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं जो स्वयं साधन नहीं करते हैं वो क्या उपदेश करें ज्ञान का अच्छा कथा कहकर लोगों को नचा लेने से ये उपदेश नहीं होता है लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठे लोग इकट्ठे हो गए और नाचने लगे कथा में यही होता नहीं वो तो मनोरंजन करने वाले आते हैं बहुत लोग बहुत प्रकार ऐसे पहले राजा लोग रखते थे ऐसे लोग होते कुछ शब्द ऐसे तुरंत इस प्रकार बोलेंगे सब लोगों को हंसाएंगे अभी भी कोई हास्य के है कलाकार मैंने देखा था ऐसे बैठेंगे दो घंटा तक लोग बैठेंगे और थोड़े थोड़े बोलेंगे सब हंसते ही रहेंगे दो घंटा से तीन घंटा चार घंटा तक वो दिखाते कहीं कहीं बोलेंगे तो हंसते ही रहेंगे सब कुछ थोड़ा कहेंगे सब हंसेंगे फिर थोड़ा कुछ कहेंगे सब हंसते रहेंगे मैं एक बार देखा था वो मैं तो भाषा नहीं समझ पाता था वो गुजराती में बोलते थे तो लोग हंसते ही रहते फिर वो कोई बताया थोड़ा हिंदी में बोलिए तो हिंदी में बोले तो बोला स्वामी जी को हंसाना कठिन है <laughs> फिर बोले बोले मैं प्रार्थना करता हूँ स्वामी जी थोड़ा हंस दे तो मेरा सफल हो जाएगा हम्म, तो फिर अपने में चिंता न कर अपने स्वरूप ना तो हिंदी क्या हिंदी बोलेंगे हिंदी में कुछ बोलेंगे तो क्या बोला आ, कोई व्यक्ति गुरु के पास था शाम के समय जब जा रहा था गुरु जी कहे अभी नहीं जाओ अभी रुक जाओ शाम को अभी ठीक नहीं ये बोला नहीं मैं तो जाऊंगा घर में बहुत तो चला अच्छा गया जाने का रास्ता में कुछ गिदड़ कोई पशु कोई गिदड़ हो ना आवाज किया शब्द सुन आ ये तो अमंगल सूचक है वापस आ गया वापस आया तो फिर गुजे में क्या बात है मेरी बात नहीं मान चला गया फिर क्यों वापस आया ना वो गिदड़ शब्द करने से वापस आ गया बोले गुरु क्या ज्ञान तुमने पालन नहीं किया गिदड़ क्या ज्ञान पालना की तो वो हंसने वाले हंसे ना हंसने वाले कुछ नहीं इसमें क्या बड़ी बात है इसे तो होता ही बहुत है तो फिर गुजरात में क्या किंतु लोग देखे हंसते कुछ कहते तो हंसेंगे लोग ऐसे राजा के पास लोग होते थे ऐसे लोग पहले राजा के पास होते थे राजे भी रखते थे मनोरंजन के लिए और कलाकार लोग होते हैं कथा करने प्रवचन करने वाले लोगों को रुला देंगे कुछ नहीं स्वयं नहीं रहेंगे ऐसे दिखाएंगे देखें आंख से आंसू गिरती रहेगी और लोगों को रुला देंगे अभी कथा करने वाले कुछ लोग ऐसे सीखते हैं सीखा करते हैं अभिनय करते हैं रुलाते हैं कोई कोई तो रोते नहीं स्वयं ऐसे शब्द से कहेंगे सुनने वालों को लगा ये रो रहे हैं रोते नहीं है पास में देखो आंख में से आंसू नहीं किंतु बोलेंगे इसे नाटक करने वाले इसे बोलते नहीं जैसे रो रो कर बोले रोते कुछ नहीं किंतु इसे बोलना सीखते जैसे रो रो कर बोलते हैं तो लोग सब देख ये सब नाटक करके लोगों को मनोरंजन कर देने से ये नहीं होता है उपदेश ये सब बहुत चलता है चलेगा ये कलयुग में वास्तव तो ज्ञान में जो साधन भजन करते हैं कुछ आगे बढ़ते हैं वो उपदेश कर सकते हैं उनके उपदेश सुनना चाहिए और ऐसे जो बहिर्मुख उनके बहुत जो वेदांत श्रवण करते हैं प्राय अधिकांश लोग उसमें से आगे वो ऐसे कथा में रुचि नहीं रखते नहीं जाते हैं साधु क्या भक्त भी कुछ वेदांत श्रवण करने के बाद कथा सुनने में रुचि नहीं रखते हाँ उनकी रुचि होती है जो हम कथा करेंगे सोचते हैं जिनके अपने कथा करने की इच्छा है ना वो कथा सुनते सामग्री इकट्ठी करने के लिए क्या कहेंगे तो कहीं कुछ कहा कहीं कुछ सुना कहीं कुछ सुना सब इकट्ठी करेंगे इसके लिए कथा के पीछे भागते जो मुमुक्षु है ये साधारण के ज्यादा कथा में ज्यादा जाते हैं नहीं अंतरंग साधना इसलिए ज्ञान नहीं होता है बात नहीं ज्ञान होता है साधना करना चाहिए और उपाय है तो ज्ञान क्यों नहीं होगा श्रुति में जैसे कहा ऐसे कुछ लोग कहते नहीं वैसे लोग कुछ मान लेते ज्ञान होता है टिकता नहीं ऐसे कहें ज्ञान होता है किंतु टिकता नहीं टिकता तो ज्ञान होता है नहीं ऐसे ऐसे तो कुछ ना कुछ बहुत प्रकार कहेंगे ज्ञान यदि हुआ तो टिकाना क्या है ज्ञान यदि अपरोक्ष ज्ञान साक्षात्कार हो गया उसको टिकाना पड़ता है उसको भगाना चाहे तो भगेगा नहीं टिकाना क्या है जो टिकता नहीं जो ज्ञान नहीं है जो कहता नहीं टिकता नहीं वो क्या ज्ञान है या संशय विपरीत तो ज्ञान हो गया तो उसको टिकाना पड़ेगा नहीं तो भाग जाएगा नष्ट हो जाएगा कुछ नहीं होगा स अनिच्छन भी मुच्यते ये ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पाप से कर्म न जब तक तो पाप कर्मे तो तो ज्ञान नहीं होता है महाभारत के है पाप कर्म क्षय होने पर ज्ञान होता है इति शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थ इति शब्द श्रुति में हां तप दम दम तपो दम कर्मेति इति तो उपलक्षण कर्म इस प्रकार भी साधन है और क्या है एतेवम आदि अन्यदपि अन्य भी साधन है ज्ञान उत्पतेर उपकारकम ज्ञान उत्पत्ति का उपकारक ज्ञान होने के बाद उसके सहकारी ज्ञान उत्पत्ति के लिए उपकार कौन अमानित्वम अदंभित्वम इत्यादि उपदर्शित भवति जितने कहा गया सब नहीं कहा गया इति किसने दे दिया अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा आदि भगवान ने कहा गीता में त्रयोदश अध्याय में ये सब भी साधन है ये सब हो गए तपो दम दम दम कर्म अग्निहोत्र आदि हो गया ये प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ करते प्रतिष्ठा पादु प्रतिष्ठा पादु प्रतिष्ठा से दे पादे है पादौ इव अस्यास्तेसु हि सत्सु प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रवर्तते पद्भ्यामिव पुरुष प्रतिष्ठा है पाद पाद इव अस्या ब्रह्म विद्या के पाद के समान है ये सब क्योंकि पाद के समान क्यों हुआ तेसु सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्म विद्या ऐसे सब होने पर ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती है जैसे कोई पाद दो हो तो खड़ा होगा पाद नहीं हो तो खड़ा नहीं हो सकता है ये सब होने पर ही ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठितति मतलब प्रतिष्ठित होती खड़े होती क्या है प्रवर्तते पदव्याम पुरुष ऐसे पदभ्याम पुरुष प्रवर्तते दोनों पादों से पुरुष चलता है खड़ा रहता है इसी प्रकार ब्रह्म विद्या होती है ये सब साधन होने पर उसमें स्थिर होती है उत्पत्ति होती और वेदा चत्वारः सर्वाणि चंगानी चार वेद और सार्वंग कितने अंग है छे शिक्षा कल्प व्याकरण निरुत चंद ज्योतिष शिक्षा आदिनी षट शिक्षा आदिनी षट छे अंग है कर्म ज्ञान प्रकाशकत्व अतः वेद और वेदांग ये सब भी प्रतिष्ठा है तप दम कर्म इति प्रतिष्ठा आगे प्रतिष्ठा वेद भी प्रतिष्ठा है अरे वेदांग भी प्रतिष्ठा है वेद कैसे प्रतिष्ठा वेदांग कैसे प्रतिष्ठा इसके आगे कहते हैं कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानां प्रतिष्ठात्वं वेद प्रतिष्ठा क्यों क्योंकि वेद कर्म और ज्ञान का प्रकाशक कर्म ज्ञान का प्रकाशक वेद से ही ज्ञान होता है कर्म ज्ञान का प्रकाशक कौन हुआ वेद वे इसलिए प्रतिष्ठात्वम और अंग क्यों प्रतिष्ठा है तद रक्षणार्थत्वात् अंगाना वेद की रक्षा के लिए वेदांग तद रक्षणार्थत्वात् अंगानाम अंगानाम तद रक्षणार्थत्वाद कर्म ज्ञान वेद में वेद की रक्षा करने के लिए अंग होने से अंग भी प्रतिष्ठा हुई अथवा अथवा कर अन्य प्रकार अर्थ करते हैं प्रतिष्ठा शब्द से पाद रूप कल्पनार्थत्वात् प्रतिष्ठा शब्द पाद रूप कल्पना पाद है पाद के समान है कोई पाद तो नहीं पाद के समान पाद रूप कल्पना के लिए प्रतिष्ठा है यदि पाद रूप हो गई तो पाद एक अंग होने से अन्य अंग क्या है त्वितराणि सर्वांगानि शिरादिनी वेदों के अन्य अंग है अन्य अंग कौन है शिर शिर हस्तादि पाद संज्ञा तो बाकी अंग है तो वेदास्तु इतराणि अंगानि इतराणि अंगानि से यह अंग शब्द का क्या अर्थ हुआ हस्तादि अवयव पहले अंग शब्द का क्या अर्थ था पहले अंग शब्द का तो था पाता वेदांग प्रथम व्याख्यान में अंग शब्द का था तो वेदांग कितने छह छह कर्म है शिक्षा आदि कर अंग अभी कहते वेद ये पाद हो गया ये सब अरे वेद हो गया सब अंग सब अंग मतलब कितने अंग है छह नहीं यह अंग का अर्थ अवयव शरीर का अवयव सिर पानी छाती पेटी ये सब जितने सब अंग ये सब है वेद सब अंग है वेद सब अंग कहेंगे तो अंग का अर्थ अवयव अंगी देह का अवयव है पाद तप दम कर्म ये सब पाद हो गए आदि पाद हो गए बाकी अंग हो गए शिरादि अंग हो गए वेद तो वेदांग का नाम नहीं रहा तो अस्मिन पक्षे शिक्षादि नाम वेद ग्रहण ने ग्रहण कृतम प्रतितव्यम इसी पक्ष में इस व्याख्यान के अनुसार श्रुति में जो अंग शब्द आया उसका अर्थ क्या अवयव शिर आदि तो शिक्षा आदि का ग्रहण नहीं होगा शिक्षा आदि का ग्रहण वेद ग्रहण ग्रहणेनैव ग्रहणम कृतम प्रत्यय समझना चाहिए वेद के नाम लेने से वेद का अंग का भी ग्रहण हो जाएगा क्योंकि वेद है अंगी उसका अंग है वेदांग छह वेदांग के अंगी कौन है वेद तो वेद अंगी का ग्रहण करने से छह अंग का शिक्षा आदि का ग्रहण हो जाता है समझ लेना चाहिए क्योंकि अंगी ने गृहीत अंगानि गृहिता नहीं होती अंगी का ग्रहण तो अंग का ग्रहण हो गया अंगी यदि प्राप्त हुआ तो अंग भी प्राप्त हो गया अंगी अवयव भी है तो अवयव के साथ रहता है अवयव के बिना अंगी नहीं रहता है तो वेद अंगी है वेद बाकी सब अंग हुए सारे आदि अंग वेद तो केवल वेद नहीं वेद और वेदांग ये सब मिल करके ब्रह्म विद्या का बाकी सब अंग हो गए तदायतनत्वाद अंगानाम क्योंकि अंगानाम तदायतनत्वाद तदाश्रयत्वाद अंगिका अंगी का आयतन अंग अंगी अंग में आश्रित होता है अवयवी अवयव में आश्रित होता है अवयव में अवयवी समवेत रहता है आश्रित होता है अंग में अंगी भेद रहता है इसलिए शिक्षा कल्प व्याकरण निरुत छंद ज्योतिष इस अंग में से मुखम व्याकरणम प्रोक्तम व्याकरण मुख है अंग है वेद का इसलिए व्याकरणम अध्ययन आवश्यक है सत्यम आयतन असत्य उसका आयतन आयतन क्या यत तिष्ठति उपनिषद तद आयतनम सत्यमिति जिसमें उपनिषद ब्रह्म विद्या रहती वो आयतन सत्य है असत्य क्या है अमायिता मायतन माय ने अकौटिल्य कुटिलता नहीं ऋजुता सरलता का वांग मान काया नाम सत्यम आयतनम वांग मन काया नाम तेसु काया नाम अकौटिल्यम वांग मन काय में अकुट अकुटिलता सरलता तेसु आश्रयति विद्या उनमें विद्या आश्रित होती है किन में ये अमाया बिना ये अमाया भी कुटिल नहीं है छल कपट करने वाले ने अमाया बिना अमाया बिना साधव असमाय में था सज भी नहीं माया भी न माया भी तो माया भी बहुवचन अमाया बिना साधव ना असुर प्रकृति भी सु माया भी जो छल कर प्रकरण वाले असुर प्रकृति वाले उनमें ब्रह्म विद्या नहीं रहती न जेमम अनृतम न माया चैति श्रुते जिन जिमय कुटिलता मिथ्या माया नहीं है उनमें ब्रह्म विद्या आश्रित होती है तस्मा सत्यम आयतनमिति कल्पते इसलिए सत्य होगा आयतन अभी सेव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनरायतनत्वेन ग्रहणम साधनातिशय तो ज्ञापनार्थम तपादिषु प्रतिष्ठात्वेन प्राप्त तपादिषु प्रतिष्ठाए कर्म इति इति सदाया इति से अमानित आदि ग्रहण जैसे हुआ सत्य भी प्राप्त ग्रहण हो जाएगा तपादि से प्रतिष्ठात्वेन प्राप्त सत्य भी प्राप्त हो गया क्यों इति शब्द अन्य का ग्रहण हो जाएगा तो सत्य का सत्य प्राप्त होने पर फिर सत्यम आयतन करेंगे पुनरायतनत्वन ग्रहणम सत्य से ग्रहण आयतन रूप से सत्य का जो ग्रहण किया गया श्रुति में किस लिए साधना अतिशयत्व ज्ञापनार्थम ये अतिशय साधन है इसको ज्ञान कराने के लिए इसलिए हंसी मजाक करके भी मिथ्या नहीं बोलना सत्य भाषण करना सत्य भाषण के सत्य में यदि कोई रहे सब बहुत कुछ सब कुछ प्राप्त कर लेगा सत्य भाषण बुरा कुछ अभ्यास रहता है अनादिकाल से बहु जन्म के संस्कार से कभी-कभी इच्छा नहीं तो भी झूठ निकल जाते है इन्नति कुछ लोगों तो झूठ बोलना को पसंद करते बड़ा सरल नहीं करके झूठ बोलेंगे सीधा नहीं करे टेढ़ा बोलेंगे और कुछ लोग तो झूठ बोल के दूसरे को ठग कर खुश होते हैं दूसरे को झूठ बोलेंगे आगे कहें देखो मैं इसको ऐसे बताया और कैसे बेकू देखो वो सत्य समझ लिया वो सत्य समझ लिया कहकर बेकू समझते हैं ऐसे कुछ लोगों का ऐसा तो नहीं करना चाहिए साधु को सत्य सा ठीक सरल मार्ग सत्य मार्ग में जाए सत्य बड़ा असमेद सहस्रम च सत्यम च तुल्याधृतम अश्वमेध सहस्रात् सत्यम एकम विशिष्यति तुला निकिति ब्रह्मा जी ने दो निकिति कोई इतने निकिति में वजन किया हजार असमेद यज्ञ एक तरफ और एक तरफ सत्य निकिति वजन करें तो अश्वमेध सहस्रात् सत्य अधिक है सहस्र असमेद कितने एक असमेद का तो कितने संभव नहीं एक हजार थे क्या सत्य उससे अधिक साधन है परमात्मा की कृपा है जो कुछ अन्य साधन नहीं कर पाते हैं उनके लिए साधन बड़ा सरल है किंतु करना पड़ता है प्रयत्न करके एक असमध करना बड़ा कठिन है नहीं कर सकते असमध सौ हजार क्या करेगा कोई एक असमध करने के युधिष्ठिर आदि ने किया था कितने व्यक्ति करे भगवान राम जी ने किया था असमध दशरथ ने किया था ऐसे असमध करना बड़ा कठिन है सब लोग नहीं कर पाएंगे अधिकारी भी नहीं सम्राट आदि कोई आजकल तो बड़ा कठिन है किंतु सत्य भाषण करने के लिए किसका अधिकार नहीं है सत्य भाषण करने का अधिकार है आपका सबका अधिकार है कोई कर सकता है ये आए इतने बड़े साधन है इसके लिए अलग से सत्य नाम लिया इसमें टीका में कुछ रह गया टीका आज अच्छा, पहले भाष्य में देखो टीका में क्या रहा प्राप्तम सगुण विषय निर्गुण ब्रह्मात्म विषय चैत्यर्थ इदम सदा था अच्छा अच्छा इदम जे याम इमाम ब्राह्मी उपनिषदन तबागिर अब्रुम इमाम इदम शब्द आया जो यह कहा आया है ये इमाम ब्राह्मी उपनिषद तबागिर अब्रुम तस्सी इसो इमम इदम शब्द है इदम शब्द का अर्थ कहते प्रा, प्राप्ताम जो प्राप्त हुई क्या हुई कही गई प्राप्ता मतलब प्रकृता जो कही गई क्या प्राप्त है यत यस याम इमाम याम यह शब्द कहते क्या प्राप्त है प्राप्ता मतलब प्रकृत है जो कही गई सगुण विषया निर्गुण ब्रह्मात्म विषया सगुण विषय की विद्या प्राप्त हुई तस्य वनम तद्वनम उपासना के लिए कहा गया निर्गुण ब्रह्मात्म विषय निर्गुण ब्रह्म ही आत्मा तद विषय ज्ञान प्राप्त है यामी माम ब्राह्मी उपनिषद तवाग्र ब्रह्म इसको कह दिया जो प्राप्त प्रकृत है आगे अथवा प्रतिष्ठा शब्द से पाद रूप कल्पनार्थत्वात् पाद रूप कल्पना इति टीका में प्रसिद्ध पाद सामान्यस्य कल्पितत्वात् प्रसिद्ध पाद के सादृश्य की कल्पना हुई यदि प्रतिष्ठा पाद का सादृश्य सादृश्य है ये तपोदम आदि सब सत्यादि पाद हो गए तो इतरेर अपि अंगेर कल्पना रूपे भवितव्यम यदि प्रसिद्ध पाद सादृश्य कल्पित हुआ तो पाद की कल्पना करे तो अन्य अंगों का भी कल्पना होनी चाहिए अन्य अंग कल्पना रूप होना चाहिए इसलिए कहते पाद रूप कल्पना हो गई तो वेद और वेद बाकी सब अंग है वेद को सब वाक्य अंग माना पाद एक अंग चला गया सिर हाथ आदि अंग वेद है तो वेद कहेंगे तो वेद के साथ वेदांग का भी ग्रहण हो जाएगा तसे तपो दम कर्म इत्यत्र इति शब्द से उपलक्षणार्थत्वात् कर्म तपो दम कर्म इति इति शब्द है इति शब्द उपलक्षण तद ग्राहकत्व से थे तदितर ग्राहकत्वम तपदम कर्मादि का ग्राहक अन्य का भी जो नहीं कहेगा उनको भी लेना है जो नहीं कहेगा सत्य भी नहीं कहा गया सत्यम अपि संग्रहितव्यम सत्य का भी संग्रह हो जाएगा इति शब्द से इस प्रकार कहन से अमानित तो अदम्भित आदि सत्य का भी ग्रहण हो जाएगा सत्य यदि इति शब्द से ग्रहण हो गया सत्य का कथम पृथक उच्यते फिर सत्य में आयतन क्यों कहते इति आशंका कहते ये यद्यपि प्राप्त है सत्य तप आदि से व प्रतिष्ठा रूप से सत्य तो प्राप्त हुआ फिर आयतनत्व सत्य का ग्रहण किया साधनाति से तो ज्ञापनार्थम सत्य में साधनाति सत्य है अतिशय साधन है सत्य अन्य साधन की अपेक्षा इसको ज्ञान कराने के लिए ये अष्टम मंत्र वाक्य भाषा में दाहिने तरफ है तस्यै का तस्या वाक्य भाषा में ब्राह्मी भावते अब्रुवम अब्रुम का क्या अर्थ क्या कहेंगे आगे कहेंगे तस्य तस्या वक्षमानाया जो कहेंगे आगे उपनिषद जो आगे ब्राह्मण जाति अनुसया ब्राह्मी कहा जो ब्राह्मण जाति सुख से अनुष्ठान कर सकते साधु को अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए ये उपनिषद का तपो आदि सब ये आश्रय तप ब्रह्मचर्य आदि तप है ब्रह्मचर्य आदि दम दम उपसम कर्म अग्निहोत्र आदि इते तानि प्रतिष्ठा आशीष सब आश्रय ये सब जितने कहेंगे उसका आश्रय आगे जो कहेंगे ये सब का उसका आश्रय है एते ही सत्सु ब्राह्मी उपनिषद प्रतिष्ठिता होती ये सब साधन होने पर ब्राह्मी उपनिषद प्रतिष्ठित होती है यहाँ जो वेदास चत्वारो अंगानि च सर्वाणि वेद चारि अंग सब प्रतिष्ठा इति अनुवर्तते वेदा अंगानि च सर्वाणि यहाँ तक मंत्र में प्रतिष्ठा शब्द का अन्वय कहाँ तक करना तसे तपो दम कर्म इति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि प्रतिष्ठा ये प्रतिष्ठा का अन्वय यहाँ तक करना प्रथम व्याख्यान के अनुसार तप दम कर्म अमानित्व आदि सत्य वेद सब अंग प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा इति अनुवर्तते ब्रह्माश्रय ही विद्या वे यहाँ ब्रह्मा का ब्रह्म का थे यहाँ वेद ब्रह्माश्रय ही विद्या विद्या ब्रह्माशय मतलब वेद आश्रित वेद आश्रयस्या विद्या का आश्रय वेद ब्रह्म का थे वेद ये कहां ठीक है एक आया था ठीक है मैं हां ये जो दिया है 119 पृष्ठ में ब्रह्मेति वेदस तन्मूलत्वा तदाश्रया देखो तदाशय जो यहाँ आया ब्रह्माश्रय ही विद्या एक पृष्ठ इक्कीस पृष्ठा में वाक्य भाषा में आया ब्रह्माश्रया ही विद्या इसका अर्थ है एक सौ उन्नीस पृष्ठा में टीका में ब्रह्मेति वेदस तन्मूलत्वाद तदाश्रया ब्रह्माश्रया का अर्थ क्या ब्रह्माश्रया ब्रह्म का अर्थ वेद वेद उसका मूल होने से तन्मूलत्वाद विद्या का मूल है वेद वेद प्रमाण से ज्ञान होने से वेद मूलक होने से वेद हो गया वेद वेद हो गया आश्रय तदाश्रया स वेद आश्रय यस्या कस्या विद्या सा विद्या तदाश्रया मतलब वेद आश्रया वेद में आश्रित हे ब्रह्माश्रित हे सत्यम यथाभूत वचनम अपिलाकरम आयतनम निवास यथाभूत वचनम यही से ऐसे कहना और दूसरे को कष्ट नहीं हो सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात अप्रिय से अपीड़ा कर दूसरे को कष्ट नहीं हो आयतनम निवास है सत्य आय निवास स्थान जिसमें निवास करते हैं सत्यवसु ही सर्वम यथा उक्त साधनम आयतनेव अवस्थितम सत्यवसु सत्य बोलने वाले सत्य वाले में ये सब साधन यथोता यथोतम सर्वम यथोतम साधन आयतनेव आसितम अस्थित अवस्थितम आयतन में घर में जैसे रहते हैं ये सत्य वाले में ये सब साधन आश्रित होते हैं तो ज्ञान होगा ये अष्ट मंत्र हो गया नव मंत्र यो वायतामेवं वेदापहत्य पापमान अनन्ते स्वर्गे लोके जये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति यो वै एताम ये विद्याम एवं वेद जिसे जानता है यथोक्त विधिना जो जानता है अपहत्य पापमानम सारे पाप को नष्ट करके अनंते स्वर्गलोके जये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति स्वर्गलोक कहेंगे तो जिसमें इंद्र है ये स्वर्गलोक कोई ग्रहण कर लेगा इसलिए श्रुति कहते अनंते स्वर्गलोके ये स्वर्गलोक का क्षय हो जाता है अनंत स्वर्गलोकन से स्वर्गे सुख आनंद रूप अनंत जो ब्रह्म स्वरूप उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है मुक्त हो जाता है ब्रह्म स्वरूप होकर जाता है जे सबसे प्रशस्तर उत्कृष्टतर है जे ब्रह्म उसमें प्रतिष्ठित तिष्ठति ब्रह्म रूप से स्थिर स्थित हो जाता है आवृत्ति दोबारा समाप्ति के लिए टीका में सगुण विद्याया क्रम उत्तर्थत्वात् सगुण विद्या तो क्रम मुक्ति के लिए सगुण विद्या से लोक जाएगा फिर वहां ज्ञान होगा तो मुक्त होगा क्रमेण प्राप्यम यत कैवल्यम निर्गुण विद्या फलम तत्पूर्वोक्तम यह उपसंहृयते तो क्रम से प्राप्त होगा कैवल्य सगुण विद्या से ब्रह्मलोक की प्राप्ति उसके बाद क्रम से ज्ञान होने पर कैवल्य प्राप्त करेगा वही कैवल्य है निर्गुण विद्या का फल अहम असीम परम ब्रह्म साक्षात्कार हो गया जीते जी वो प्राप्त कर लेता है स्वयं अनुभव करता मैं मुक्त हूँ और देह समाप्त होने पर विदेह कैवल्य को प्राप्त करेगा कहीं ब्रह्मलोक कहीं जाने का नहीं है किंतु सगुण विद्या से ब्रह्मलोक जाएगा वहाँ ज्ञान प्राप्त करेगा आगे प्राप्त करेगा मोक्ष जो निर्गुण विद्या का फल पर वो तो निर्गुण विद्या का फल मोक्ष पहले कह दिया पुर मुक्तम यह उपसंहति यहां उपासार करते इत्या यो वा एताम ब्रह्म विद्याम ये जो ब्रह्म विद्या एता मतलब केनशितम इत्यादि ना यथोक्ता प्रारंभ से केनशित शिष्य ने पूछा था इत्यादि के जो कही गई ब्रह्म विद्या एवं महाभागाम ये महाभागे ब्रह्म विद्या कोई सामान्य नहीं ब्रह्म हदेवे बीजिज्ञे कह करके उसकी स्तुति की गई देवताओं ने स्तुति देव, जीत देवताओं के लिए परमात्मा ने असुर को परास्त करके जीत कर जाने पर उसके उसका फल देवताओं को मिला देवताओं का अभिमान हो गया हमारी जय हमारी महिमा इस कह करके आगे इंद्र को कैसे ज्ञान हुआ कहने से ब्रह्म विद्या को किस प्रकार ज्ञान हुआ जाकर ध्यान लगा इंद्र उमा के उपदेश से ज्ञान हुआ इसी प्रकार ब्रह्म विद्या कह करके इसी की स्तुति हुई अर्थवाद इत्यादि स्तुताम सर्व विद्या प्रतिष्ठा वेद अमृतत्वं विंदते सारे विद्या की प्रतिष्ठा है जितने अन्य सब विद्या है सब अविद्या है परा विद्या अपरा विद्या दो विवाह कर दिया मुंडक उपनिषद में द्वे विद्या विदितव्य अपरा विद्या में सारे वेद अंग सब बहुत शास्त्र सब आ गए किंतु परा विद्या अर्थ पराया तदक्षरम अधिगम्यते अक्षर ब्रह्म ज्ञानी परा विद्या उसको छोड़कर बाकी जितने विद्या सब अज्ञान के अंतर्गत अविद्या है नारद जी को बहुत शास्त्र का ज्ञान था किंतु ब्रह्म विद्या नहीं होने से सनत कुणा के पास जा करके अधि भगवो ब्रह्मेति वो क्या-क्या जानते हो पूछा था नारद जी ने बताया क्या-क्या जानते सब ग्रंथ का नाम बता दिया सब ग्रंथ को याद रखना भी कठिन है इतने ज्ञान है नाम याद रखना भी कठिन है इतने विद्या है तो, तो, तो इतने होने के बाद भी तृप्त नहीं अशांत है ब्रह्म विद्या है परा विद्या सबसे श्रेष्ठ है महाभागम ब्रह्म देवी इत्यस्तुताम सर्व विद्या की प्रतिष्ठा उसको जो प्राप्त करता है अमृतत्व ही बिंदते इतुक्तम पहले फल कथन कर दिया मुक्त हो जाता है कहने पर भी अभी फिर कहते ब्रह्म विद्या फलम अंत निगमयते यही ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल अंत में निगमन स्थानीय वाक्य के द्वारा कहते हैं इसे पर्वत वन्यमान जहाँ जहाँ धूम महावनी यथा महानसम तथा जी पर्वतें धूमे ये सब होने पर निश्चय हो गया फिर अंत में निगमन करते तस्मात् पर्वत वन्यमान जो बेल प्रतिज्ञा की थी अंत में फिर उसका उपसार करने के लिए कह तस्मात् पर्वत वन्यमान तो दृढ़ निश्चय हो जाता है इसे निगमन स्थान अंत में ये फल कथन करते अपहते अपहत्य पापमानम अविद्या काम कर्म लक्षणम संसार बीजम विदुय पाप को नाश करके कारण अविद्या रहेगा तो पूरा कार्य का नाश नहीं होगा कारण के निमित्त तो हो गए तो का नाश बीज है अविद्या इस अपहत पाप पूरा पाप की निवृत्ति बीज रहे रोग की निवृत्ति नहीं होती इसे रोग का निदान आयुर्वेद में रोग का निदान मूल कारण क्या है मूल कारण जानने के औषधि देते निदान मूल कारण की निवृत्ति तो रोग निवृत्ति हुई और ऊपर से थोड़ी दवा दिया वो निवृत्ति नहीं है गर्मी बहुत होती है उसे कहीं ऊपर थोड़ा बर्फ लगा दो ठंडा लगा दो थोड़े समय थोड़ा गर्म कम लगा फिर 5-10 मिनट में ऐसे गर्म आ जाएगा और कोई दीवारें हैं उधर गोसा अपरिष्कार गोशाला आदि है कुछ है दीवारें में कुछ आता है दिखता है वर्षा के समय और ऊपर हटा कर थोड़ा लगा दो और ठीक हो जाएगा उधर यदि कुछ है उसको साफ करो तो ठीक होगा कहीं पानी ऊपर से गिरता है गिरता तो साथ में कैसे हो जाता है मैला फिर वर्षा का तो उसको चुन लगा दिया फिर थोड़ी देर बाद सो गिरेगा फिर ठीक है ऊपर पानी जमा है तो उसको साफ करो मूल कारण क्या है इसको देखते आयुर्वेद शास्त्र में आता है ये रोग का मूल कारण क्या समझ करके औषध देते हैं इसी प्रकार यहाँ पाप का मूल कारण अविद्या है भगवान ने गीता में भी भगवान ने उपदेश किया अर्जुन को शोक मोह निवृत्ति के लिए मूल कारण आत्मज्ञान अविद्या है उसकी निवृत्ति ज्ञान के बिना नहीं होगी तब ब्रह्म विद्या का उपदेश अर्जुन को भगवान ने किया गीता में अविद्या काम कर्म लक्षण अविद्या कामना वासना और कर्म पुण्य पाप कर्म यही सब ये पाप है ये सब पाप है संसार का बीज उसको नष्ट करे विधु यह ज्ञान से नष्ट कर देता है अनंत का तो अपर्यंत जिसका अंत नहीं हो स्वर्गे लोके सुखात्मके ब्रह्मणीते तत स्वर्गे सुख विशेषम सुखात्मक है ब्रह्म स्वर्ग लोके का तो सुखात्मक ब्रह्म अनंत इति विशेषणा न त्रिविष्टव यहाँ इंद्र जो स्वर्ग में रहता है भूर भो स्व लोक को नहीं लेना क्योंकि अनंत विशेषण दिया त्रिविष्टव स्वर्ग का नाम है अनंत शब्द औपचारिक उपचार कोई कहता अनंत से जैसे देवता को अजर अमर कह दिया अमर वो तो समाप्त होते ऐसा अनंत शब्द औपचारिक गुण हो जाएगा इसलिए कहते नहीं जे ये जे मतलब जायसी सबसे महत्तर जितने बड़ा-बड़ा है सबसे महत्तर उससे बड़ा कोई नहीं इसलिए वहाँ ब्रह्म स्वरूप मुख्य लेना स्वात्मनि मुख्य एव पति अपने स्वरूप में वो मुख्य है अमृतत्व उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है प्रतिष्ठित होता है क्या अर्थ न पुनः संसारम आपद्यते इति अभिप्राय प्रतिष्ठित हो गया स्थिर हो गया फिर संसार को नहीं आता है मुक्त हो जाता है ठीक है मैं थोड़ा सा है हाँ आज तो समाप्त हो गया वाक्यवास और कहाँ है हाँ तामेताम तपादि अंगाम तपादिन अंगानीयस्य तत्प्रतिष्ठाम ये सब प्रतिष्ठा हो गई ब्राह्मीम उपनिषदम ब्राह्मी उपनिषद सायतनम आयतन सत्य के साथ आत्मज्ञान हेतु होताम आत्मज्ञान का हेतु ये सब सत्य आयतन तप आदि सब आत्मज्ञान हेतु होताम एवं यथावद यो वेद जो ठीक ठीक जानता है वेद का अर्थ अनुवर्तते अनुतिष्ठति खाली जानकर कर बैठने नहीं ये समझ करके उसके अनुसार करना है हां तप आदि साधन है समझ लिया और नहीं करना तो ज्ञान हो जाएगा तो वेद का तो कहते हम जानते हैं नहीं अनुवर्तत ऐसे करता है अनुतिष्ठति तस्य तत् फलमः अपहते पापमान अपहते अपक्षय धर्म धर्म इत्यर्थ धर्म अधर्म सब ज्ञान हो गया तो पुण्य तो नष्ट हो पाप तो नष्ट हो जाएगा पुण्य भी चले जाएगा पुण्य पाप दोनों पुण्य रहेगा तो नहीं तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा अनंत का तो अपारे अविद्यमान अंते अविद्यमान अंतोयसे स अनंत अनंत जिसका अंत नहीं स्वर्ग लोके सुख प्राय निर्दुख आत्मनि ब्रह्मणी सुख है निर्दुख सुख आत्मक है ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है जे का तो महति सर्व महत्तरे सबसे बड़ा है प्रतिष्ठति ब्रह्म सर्व वेदांत वेद्यम ब्रह्म सर्व वेदांत के द्वारा विद्य होता है ब्रह्म सारे वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म आत्मत्वेन अवगम्य ब्रह्म को साक्षात्कार करना जब आत्मत्वेन अहमस्मि आत्मत्वेन साक्षात्कार करे तदेव ब्रह्म प्रतिपद्यते वही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है इसमें टीका में तपादिनी वेदांगानि अस्य तपादिनी वेदांगानि अंगानेस्य से चार नंबर टिप्पणी दिया है होना चाहिए तब वस्तु तत्र अंगानि यस्य इत्येव युक्तत्र पाठ तपादिन हो गया वेदांगानि अंगानेस्य यस्य वेदांगानि अंगानि नहीं करके वेदांगांतानि अंगानेस्य वेदांग अंत में हो तप से लेकर के वेदांत वेदांग तक तपादिनी वेदांगानि अंगानि से दिया है क्या होना चाहिए वेदांगांतानि अंगानि यस्या वेदांत है अंत में तपस लेकर सब जिसका अंग है ऐसा युक्ततर पाठ सत्य से आयतनत्वेन सायतन आगे कहेंगे उसको छोड़ कर बाकी सब अंग है तो तपादिनी वेदांगानि अंगानि तपादि भी अंग है वेदांग वेदांग भी, भी अंग है यस्या सत्य काम स्वयं सिद्ध सर्वेशो य सशक्तितः सैवान्तः प्रविष्टोऽहम् उपास्य सर्वदेहिनां सत्य है कामाय से सत्य कामम स्वयं सिद्ध है इसको कुछ करना नहीं पड़ता ब्रह्म स्वरूप नित्य सिद्ध सबका ईश्वर है यह स्वशक्तित इस सैव अंत प्रविष्ट हुई अंदर ब्रह्म तत्सृष्टा तदेवानु प्रविष्टत सृष्टि करके सशक्ति से वही प्रविष्ट हुआ वही अहम सर्वदेहिनाम उपास्य वही सो हम जो सर्वदेही जीव का उपास है संसिद्ध ब्रह्म वैसो अहम सत्य काम है स्वयं सिद्ध जो सर्वेश ब्रह्म सर्वदेही नाम उपास्य अहम अस्मि इसी का भी थोड़ा एक श्लोक है पद्य भाष्य में यो सो सर्वेश्वरो विष्णु सर्वात्मा सर्वदर्शन शुद्धो बोधां बुद्धि साक्षात सोहम नित्यो प्रभु ये उसो सर्वेश्वर परमात्मा विष्णु व्यापक ब्रह्म सर्वात्मा सबका आत्मा है एक ही विष्णु आत्मा है सबका आत्मा है सबका वास्तव बिंब एक है प्रतिबिंब अनेक है अनेक प्रतिबिंब में एक बिंब जिस प्रकार सब के भास सब के अंतकण में प्रतिबिंब दिखता है एक ही आत्मा सब के अंदर बाहर व्यापक है सर्वदर्शन सर्वदर्शन सर्वात्मा सर्वदर्शन सर्वस्य दर्शन में से सर्वज्ञ है सर्वदर्शन सर्वस्य व्यधिकरण बहुवरी सर्वस्य दर्शन में से कर्ता थे लिटु कर सकते सर्वस्य दर्शन कर्तरी कृत्य लिटु बहुलम सर्वस्य दर्शन कर भी कर सकते हैं और नहीं तो सर्वस्य दर्शन में से सबका ज्ञान जिसको है सर्वदर्शन शुद्धो बोधाम बुद्धि साक्षात शुद्ध है बोध के अंबुदी समुद्र बोध रूप ज्ञान ही समुद्र है साक्षात जो है जो सर्वेश्वर बोधांबुद्धि सो अहम नित्य अभय प्रभु सो अहम वही ब्रह्म में हूँ जो नित्य हो अभय सब के प्रभु है समर्थ है प्रभवति प्रकर्षण भवति स्वयं प्रकाश ब्रह्म अहमस्मि समाप्त इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शंकर भगवत पाद कृतौ केन उपनिषद पदभाष्ये चतुर्थ खंड इसी प्रकार वाक्य भाष्य इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतौ तलवकार उपनिषद अपर पर्याय केन उपनिषद भाष्य क्षुद्र गण वाक्य विवरणम समाप्तम क्षुद्र गणे क्षुद्र गण दिया क्षुद्र गण है वाक्य क्षुद्र गण में स्वल्प समय स्वल्पा समूहा इसमें स्वल्पा समूह मतलब वाक्यानि यस्मिन भाषे जिस वाक्य में स्वल्प क्षुद्र का तो स्वल्प गण है समूह स्वल्पा समूह समागत वाक्यानि पद समूह छोटे-छोटे संग्रह स्वल्प है संग्रह वाक्य जिसमें हो स्वल्पा समूहा का तो वाक्यानि यस्मिन सर्पे संग्रह रूप से वाक्य जिसमें हो इस वाक्यवास समाप्त हुआ ओम आप्यायन्तु वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमतो